द्वितीय मंत्र का भाष्य कुछ बाकी है भाष्य में आया श्रोत्रादिनामेवत संहताना व्यापारेण आलोचन संकल्प अध्यवसाय लक्षणेन फलावसान लिंगेन अवगम्यते श्रोत्रादियों का प्रेरक कोई स्व व्यापार विशिष्ट ऐसा जाना नहीं जाता है जैसे दात्री आदि का प्रयोग करने वाले लविता छेदन करने वाले व्यक्ति तो दिखता है दंड चलाने वाले कुलाल कुठार से छेदन करने वाले छेदक दिखता है किंतु सूत्र आदि को अपने व्यापार से कोई प्रेरणा करने वाला उनका जो व्यापार है उस व्यापार में प्रेरणा करने वाला कोई प्रेरक अलग कोई स्व व्यापार विशिष्ट नहीं दिखता है फिर कैसे निश्चय होगा श्रुत्रादि नाम वो संहतान जो संगत है उनका व्यापार है आलोचन दर्शन संकल्प मन का बुद्धि का अध्यवसाय यही है व्यापार वो व्यापार हो गया फलावसान लिंगम फलावसान लिंगेन अवगम्यते फलावसान लिंगेन अवगम्यते प्रेरक चक्षुरादि का श्रुत्रादि का प्रेरक फलावसान लिंगेन फलावसान लिंग का अर्थ टीका में फलावसानम लिंगम यस्मिन व्यापारे यस्मिन व्यापारे सब फलावसान लिंग व्यापार का विशेषण फलावसानम लिंगम यस्मिन व्यापारे अब फलावसान अवसान समाप्ति फल निष्पत्ति फलावसान का तो फल निष्पत्ति फल निष्पत्ति है चक्षुरादि करण व्यापार उनसे फल होता है ज्ञान टिप्पणी में दिया फल उत्पत्ति ब्रह्म उत्पत्ति ब्रह्मा की उत्पत्ति यही फल है चक्षुरादि इंद्रिय के व्यापार से फल होता है ब्रह्मा निश्चय ज्ञान फल निष्पत्ति लिंगम यस्मिन यस्मिन फल निष्पत्ति लिंगम ज्ञान उत्पत्ति है लिंग जिस व्यापार में वो व्यापार हो गया फला फलावसान फलावसान लिंगम फलावसान लिंगम फलावसानम लिंगम फलावसान लिंगम यस्मिन् व्यापारे स व्यापार फलावसान लिंगः फलावसान लिंगेन व्यापारेण सूत्रादिना व्यापारेण सूत्रादि का व्यापार हो गया फलावसान लिंग फलावसान है लिंग जिसका सूत्रादि का व्यापार तो दिखता है दिखता है श्रोत्र आदि का व्यापार नहीं दिखेगा चक्षु का व्यापार दिखता है चक्षु नहीं दिखते चक्षु नहीं दिखता तो उसका व्यापार भी नहीं दिखेगा कुठार दिखेगा तो कुठार के व्यापार दिख सकता है उद्यम निपातन व्यापार होता है दिखता है दंड दिखता है तो दंड घुमाता है कुलाल भी दिखेगा चक्षुरादि का दर्शन नहीं होता ज्ञान नहीं होता है प्रत्यक्ष नहीं होता है तो उसका व्यापार का प्रत्यक्ष नहीं होगा तो वो व्यापार का भी अनुमान किया जाता है रूप ज्ञान हुआ तो चक्षु व्यापार हुआ रूप ज्ञान चक्षु व्यापार के बिना रूप दर्शन प्रत्यक्ष हो जाएगा शब्द का श्रवण श्रवण इंद्रिय व्यापार के बिना ज्ञान से अनुमान होता है इंद्रिय इंद्र का व्यापार व्यापार विशिष्ट इंद्रिय कार्य से कारण का अनुमान होता है क्रिया है क्रिया हो तो कोई उसका कारण होना चाहिए छेदन क्रिया है छेदी क्रिया है तो छेदन करने वाला कोई है छेदन करने वाला खाली रहेगा खड़ा होगा कुठार पकड़ करके छेदन हो जाएगा कर्ण व्यापार विशिष्ट कर्ण वाला करता होता है इसी प्रकार यहाँ ज्ञान रूप क्रिया है उससे अनुमान किया जाता है कर्ण और कर्ण का व्यापार तो फल निष्पत्ति हो गया परमात्पत्ति यही लिंग है व्यापार में किसी व्यापार में चक्षुरादि के व्यापार में चक्षुरादिकरण का व्यापार में लिंग हो गया फल निष्पत्ति यस्मिन अवगत्या यस्मिन अवगत्या यस्मिन व्यापारे यहां फलावसानम फल निष्पत्ति लिंगम यस्मिन यहां तक यस्मिन का अर्थ कस्मिन व्यापारे लिंगम यस्मिन व्यापारे सब फलावसान लिंग आगे अवगत्या ही कर्ण से व्यापार लिंग्यते अवगत्या ही कर्ण से व्यापार लिंग्यते अवगति है ज्ञान तृतीयांत अवगति के द्वारा ज्ञान से कर्ण चक्षुरादि कर्ण का व्यापार लिंग्यते लिंगेन निश्चयते ज्ञान रूप कारण से कार्य का, कार्य से कर्ण का व्यापार निश्चित होता है लिंग्यते लिंगिगत ज्ञायते व्यापार का ज्ञान होता है प्रत्यक्ष नहीं होता है ज्ञान रूप व्यापार क्रिया से कर चक्षुरादि करण का व्यापार निश्चित किया जाता है लिंगते यह हो गया फलावसान लिंगेन फलावसान लिंगेन फलावसान लिंग हो गया फला अवसान लिंग व्यापार हो गया फलावसान लिंग व्यापार हुआ आलोचन संकल्प लिखे ना अवगम्यते अवगम्यते कौन अवगम्यते प्रेरित प्रेरक अवगम्यते फलावसान लिंग है न अवगमित फलावसान लिंग कौन हुआ व्यापार तेन व्यापारेण अवगम्यते अवगम्यते प्रेरक अथवा नित्या अवगत्य अभिव्यंजकत्वाद् वा फलावसानम लिंगम तलावसान लिंगम व्यापार तेन से लक्ष्यते नित्य अवगति व्यंजकत्वाद अथवा नित्य जो अवगति अवगति ज्ञान रूप नित्य अवगति चित चेतन है ब्रह्म ज्ञान दो प्रकार के नित्य है एक अनित्य है नित्य ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता है नित्य अवगति रूप ज्ञान ब्रह्म चेतन और एक ज्ञान होता है वृत्ति ज्ञान घट आकार वृत्ति होती वृत्ति में चिदाभास उदय होता है उसको ज्ञान शब्द से कहते गौण है यहाँ नित्यावगति व्यंजकत्वाद वा फलावसान लिंगम नित्यावगति का व्यंजक है नित्यावगति ज्ञान ब्रह्म ब्रह्म उसका व्यंजक है अभिव्यंजक है अभिव्यंजक है वृत्ति अंतगण की वृत्ति होती है अभिव्यंजक फलावसान फलस्य वृत्तिर अवसानम टिप्पणी चार नंबर दिया फल है वृत्ति वृत्तिर अवसानम परिवसान भूमि चित तल्लिंगम फला वृत्ति का अवसान परिवसान भूमि समाप्ति वृत्ति होने पर अंत में वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त होता है चित तल्लिंगम फल अवसान हो गया अब वृत्ति अभि अवसान हो गया चेतन तलिंगम तस्य तस्या लिंगम फलावसान लिंगम वृत्ति ज्ञान है उसका लिंग है वृत्ति ज्ञान से उसकी अभिव्यक्ति होती है वृत्ति ज्ञान से उसकी अभिव्यक्ति होने से हो गया वृत्ति ज्ञान हो गया फलावसान लिंगम पहले फलाव निष्पत्ति को लिंग कहा था ब्रह्मा उत्पत्ति को लिंग कहा था व्यापार से और यहाँ वृत्ति ज्ञान हो गया लिंग नित्यावगति का अभिभंजक होने से फलावसान वृत्ति का अवसान लिंग चेतन है उसका लिंग फलावसान का लिंग वृत्ति है पद लिंगम व्यापार फलावसान का लिंग हो गया व्यापार हो गया नित्य अभिगति फल हो गया वृत्ति वृत्ति का अवसान हो गया फला वृत्ति फलावसान हो गया चेतन उसका लिंग है व्यापार प्रेरक का व्यापार इंद्र का व्यापार से ज्ञान होता है कोई चेतन ब्रह्म चेतन है चेतन का निश्चय होता है इस व्यापार के द्वारा तो फलावसान हो गया फलस्य वृत्तिर अवसान हुए चेतन उसका लिंग चेतन का लिंग इंद्रिय को व्याकरण में सूत्र इंद्रियम इंद्रलिंगम जुष्टम इंद्रजुष्टम इंद्रदत्तम इंद्रियम इंद्रलिंगम इंद्र आत्मा का लिंग होता है इंद्रिय इंद्रिय है कर्ण कर्ण है तो उसका कोई कर्ता होने प्रेरक होना चाहिए इंद्रिय जिसके लिए कर्ण से इंद्र आत्मा का निश्चय होता है इसलिए लिंग इंद्रिय होता है लिंग यहाँ फलावसान हो गया चेतन चेतन का लिंग हो गया ये व्यापार तेन तस्य से लक्ष्यते ये व्यापार से इंद्रिय व्यापार से उसका शेषी व्यापार जिसके लिए वो चेतन लक्षित होता है इंद्रिय व्यापार से चेतन का निश्चय होता है फलावसान लिंगेन अवगम्यते श्रोत्रादि का प्रेरक चेतन आत्मा उसका ही लिंग हो गया वृत्ति आदि व्यापार आदि अस्ति श्रोत्रादिभिर असंहतो यत् प्रयोजन प्रयुत श्रोत्रादि कलाप गृहादिवत इति संहतानां परार्थत्वाद अवगम्यते श्रोत्रादीनां प्रयुक्ता श्रोत्रादीनां प्रयुक्ता अवगम्यते अस्ति श्रोत्रादि भी असंगतः श्रोत्रादि इंद्रिय असंगत कोई एक है जिसके लिए इनका व्यापार होता है यत प्रयोजन प्रयुत जिसके प्रयोजन के लिए ये श्रोत्रादिक व्यापार होते हैं प्रयोजन है ना प्रयुत प्रेरित होकर के श्रोत्रादि कलाप होते हैं जिस प्रयोजन की जिसके प्रयोजन के लिए श्रोत्रादि कलाप व्यापार विशिष्ट होते हैं व्यापार करते हैं गृहाधिपत जैसे गृह है संहत है संहत है तो उससे गृहादि गृह आदि जितने सब है संहत संघात है और परार्थ है व्याप्ति है यह संघात स परार्थ संहतानां परार्थत्वात् यत्र यत्र संघातत्वं तत्र परार्थत्वं जैसे गृह गृह संघ संहत है इसमें संघातत्व रहेगा संघात है ईट पत्थर दीवार आदि सब मिल करके गृह है वो पर के लिए असंगत के लिए गृह स्तंभ ईट पत्थर से असंगत गृह स्वामी उसके लिए गृह होता है इसी प्रकार यहाँ चक्षु श्रोत्र देह आदि समुदाय है संघत है संघात संघात उसमें संघातत्व रहेगा तो साध्य परार्थत्व रहेगा पर के लिए देह जैसे गृह पर के लिए गृह स्वामी के लिए ये आदि करण कला भी पर के लिए अन्य के लिए जिसके लिए इस आदि का व्यापार होता है आदि नाम प्रयुता अवगम्यते ऐसे जो कि असंगत सूत्र आदि के साथ संघत नहीं संघात से विलक्षण है गृह स्वामी जैसे मकान के अवयव आदि से विलक्षण है इसी प्रकार यहाँ प्रेरक अलग है तस्माद अनुरूपमेव इदम प्रतिवचनम श्रोत्र से श्रुतम इत्यादि इसलिए जो प्रश्न किया था श्रोत्र से श्रुतम इसके ऊपर आक्षेप हुआ था असो एवं विशिष्ट श्रोत्र आदि नियुते ऐसे श्रोत्र आदि को प्रयोग करने वाले कोई हम कहे ऐसे धर्म वाला ये नहीं कह करके सूत्र का श्रोत्र ये क्या अननुरूप होगा प्रश्न का अनुसार उत्तर नहीं हुआ तो उसका उत्तर दिया और अन्य प्रकार उपदेश नहीं हो सकता है श्रोत्र आदि का प्रेरक यदि किसी धर्म विशिष्ट होता तो हमको धर्म वाला इसे कहा जा सकता उसमें कोई अलग धर्म नहीं है अन्य नहीं जाना जाता है श्रोत्र आदि व्यापार से ही निश्चित होता है इसलिए श्रोत्र का श्रोत्र आदि जो उत्तर दिया अनुरूपमेव इदं इदम प्रतिवचनम योग्य उत्तर है श्रुत श्रुत्रम इत्यादि तो इसका अभिप्राय क्या है कह पुनरत्र पदार्थ सूत्र से श्रुत्रम इत्यादि है तो श्रुत्र से सूत्र उत्तर योग्य हो गया ठीक है किंतु उसका पद का अर्थ क्या श्रुत्र का श्रुत्र एक सूत्र दूसरा सूत्र सूत्र का सूत्र क्या इस पद का क्या अर्थ है वाक्य अर्थ क्या होगा वाक्य घटक पदों का अर्थ क्या है नहीं अत्र श्रोत्र से श्रोतांतरणार्थ यथा प्रकाश से प्रकाशांतरण एक प्रकाश है उसको देखने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता है प्रकाश से प्रकाशांतरण यथा अर्थो नास्ति प्रयोजन नास्ति तद्वत श्रोत्र से श्रोत्रांतरण अर्थो नास्ति नहीं अत्र श्रोत्र से श्रोत्रांतरण अर्थ श्रोत्र का अन्य श्रोत्र से कोई प्रयोजन नहीं है जिस प्रकार प्रकाश का अन्य प्रकाश से अन्य न प्रकाश में कोई अर्थ नहीं है अन्य प्रकाश से कोई प्रयोजन नहीं है एक दीप को प्रकाश करने के लिए अन्य दीप की आवश्यकता नहीं है नयत्र सूत्र से सूत्र आदि जैसे सूत्र का दूसरा सूत्र क्या है तो उसका अभिप्राय कहते नहीं सदोषो वयम अत्र पदार्थ सिद्धांत कहता है कि कोई दोष नहीं पदार्थ कहते हैं श्रोत्रम तावत स्व विषय व्यंजन समर्थम दृष्टम ये तो दिखा के श्रोत्र स्व विषय व्यंजन समर्थम श्रोत्र का विषय क्या है शब्द का अभिव्यक्ति शब्द की अभिव्यक्ति करता है शब्द व्यंजन का समर्थ श्रवण इंद्रिय शब्द की अभिव्यक्ति ज्ञान होता है श्रवण इंद्रिय के द्वारा कोई शब्द होता है तो सुनते क्या सुनाई पड़ता है तो श्रोत्र इंद्र श्रवण इंद्रिय से शब्द की अभिव्यक्ति होती है वो समर्थ है तच्च स्व विषय व्यंजन सामर्थ्यम श्रोत्रस्य चैतन्य ही से नित्य असंगते सर्वांतर सते भवति नाशति स्विषय व्यंजन सामर्थ्यम जो श्रवण इंद्रिय में विषय शब्द व्यंजन का सामर्थ्य है श्रुत्रस्य सामर्थ्यम चैतन्य ही से नित्य असंगते सर्वांतर सते भवति कोई चेत चेतन है चैतन्य स्वरूप आत्म ज्योति स्वयं प्रकाश है नित्य है असंगत देहादि संघात से विलक्षण जो सबके अंदर सर्वांतर ऐसा होने पर ही श्रवण इंद्रिय में स्व विषय व्यंजन सामर्थ्य होगा न सती ये चेतन के बिना जड़ है श्रवण इंद्रिय विषय प्रकाश करने के लिए सामर्थ्य नहीं है कोई एक हो और जो है वो भी नित्य होना चाहिए देहादि से असंगत संहत होगा तो वो भी अन्य के लिए हो जाएगा कोई चेतन जिसके कारण इसमें सामर्थ्य आता है इत्यतः श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि उपपद्यते श्रोत्र से श्रोत्रम उत्तर हुआ जिसके कारण श्रोत्र में सामर्थ्य आता है वो श्रोत्र है जल को गर्म करने से जल गर्म हो गया जब उसको स्पर्श करें तो हाथ में स्फोट हो जाएगा दाह होता है तो जिसके कारण जल में उष्णत्व आया वही उसको स्वरूपत जल में नहीं जिसके कारण हुआ श्रवणेन्द्र जड़ में जिसके कारण शब्द व्यंजन सामर्थ्य वो सूत्र का सूत्र इसे कहा गया तथा च श्रुत्यंत्राणि आत्मनेवायम ज्योतिषास्ते आत्मना ज्योतिष अयम आते आत्म रूप ज्योति प्रकाश से रहता है व्यवहार करता है आत्मा ही ज्योति रूप प्रकाश है तसे भाषा सर्वमितम विभाति भाषा प्रकाशन आत्मा के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है येन सूर्य तपसि तेजसे ध येन तेजसा इद्ध सूर्य तपति जिस तेज से इद्ध इंधि दीप्तो दीप्त प्रकाशित होकर के सूर्य भी तपाता है सूर्य भी जो को प्रकाश करते हैं जिस तेज से इद्ध प्रकाशित होकर के अर्थात सूर्य का ही प्रकाशक है सूर्य का भी प्रकाशक सूर्य तो सारे जड़ वस्तुओं का प्रकाशक उसका भी प्रकाशक है जिस तेज प्रकाश से प्रकाशित होकर के सूर्य सौ पाता है प्रकाश करता है वह आत्मा है यदादित्यगतम तेजो जगत भासेते किलम यच्चंद्रमसि यचाग्नो तेजो विधिमामको आदित्यगत तेज जगत भासेते अखिलम जगत भासेते आदि में तत्तेज विधिमामक अर्थात मेरे तेज से प्रकाशित होकर के ही उसको प्रकाश करता है क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत इसके पहले क्या है गीता में इसके पहले क्या है यथा प्रकाशयते कह लोकम हाँ, सर्व रवि हाँ लोकम कृष्णम एवं रवि रवि सूर्य जैसे सौ को प्रकाश करते हैं क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत तथा क्षेत्री कृष्णम क्षेत्रम प्रकाशयति एक क्षेत्री है क्षेत्रज्ञ सारे क्षेत्र को प्रकाश करता है सूर्य जी से सब को प्रकाश करता है ऐसे एक क्षेत्री सारे शरीर को प्रकाश करता है तो सब का प्रकाशक है सूर्य चंद्र आदि का भी प्रकाशक है काठ के च नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम नित्यत्वेन प्रसिद्धानाम नाम मध्य नित्य चेतनानाम कहीं अनित्यानाम मध्य नित्य चेतनश्चेतनानाम चेतन का भी चेतना चेतनत्वेन प्रसिद्ध सौचिदाभास है उनका भी चेतन जिसके कारण ये सब चेतन दिखते हैं शुद्ध चेतन दिखता नहीं है जिसको हम चेतन कहते हैं वो चेतन भी शुद्ध चेतन से प्रकाशित होकर के दिखता है चिदाभास विशिष्ट सब दिखते हैं चेतन कहते हैं उनमें के उनका जो चेतन जिस शुद्ध चेतन से प्रकाशित सब टीका में प्रतिवचन से संक्षेपत तात्पर्य माह श्रोत्र से श्रोतम ये जो उत्तर दिया उसका संक्षेप से तात्पर्य कहते हैं श्रोत्रादि एव सर्वस्य श्रोत्रादि एव सर्वस्य आत्मभूतम चेतनमिति प्रसिद्धं तदय निवर्त्यते कोई कोई कहते श्रोत्रादि एव सर्वस्य आत्मभूतम चेतनम चेतन तो वही है जो श्रवण करने वाला सबका आत्मभूत श्रोत्र है चक्षुरादि चेतन ये प्रसिद्ध है मैं देखता हूँ मैं सुनता हूँ देखने सुनने वाला जो इस चक्षु श्रोत्र आदि वही है इसे लोक में सामान्य में प्रसिद्ध है तदिह निवर्त्यते उसकी निवृत्ति हो जाती है श्रोत्र आदि आत्मा नहीं है श्रोत्र आदि करण है अन्य प्रयुक्त है संघात में संघात के अंतर्गत जो संहत है वो परार्थ है उससे विलक्षण कोई संघात से संघात से विलक्षण असंगत कोई चेतन है उसके लिए ये सब प्रवृत्त होते हैं अस्ति किमपि विद्वद बुद्धिगम्यम सर्वांतरतमम कूटस्थम अजरम अमृतम अभयम अजम श्रोत्रादिरपि श्रोत्रादि तसामर्थ्य निमित्तमिति प्रतिवचनम शब्दार्थस्य उपपद्यते उत्तर शब्द का अर्थ भी प्रामाणिक है अस्ति किमपि विद्वत बुद्धिगम्यम विद्वत बुद्धिगम्यम विद्वान बुद्धिगम्य अस्ति कैसा है किस प्रकार है एदम इत्थम इसी प्रकार उस प्रकार नहीं कह सकते किमपि कुछ है विद्वत बुद्धि का में किमपि अस्ति जो शुद्ध सब को प्रकाश करने वाला उसको किसी शब्द से नहीं कह सकते कुछ है विद्वत बुद्धि गम्यम जो कि सर्वांतरतम सबसे अंतरतम कूटस्थम कूटपत निर्विकार स्थित अजरम जरा रहित मृत्यु रहित अवय जन्म रहित श्रोत्रादि अपि श्रोत्रादि श्रोत्र का भी श्रोत्र चक्षु का चक्षु श्रोत्र का श्रोत्र चक्षु का चक्षु का अर्थ तत्सामर्थ्य निमित्तम श्रोत्रादि में जो सामर्थ्य शब्द अभिव्यंजन सामर्थ्य उसका निमित्त चक्षु में रूप अभिव्यंजन सामर्थ्य उसका निमित्त यही सब साम इंद्रिय में जो सामर्थ्य है उसका निमित्त है यही प्रतिवचन उत्तर है जो श्रोत्रादि इंद्रिय में सामर्थ्य है तत्तद विषय ग्रहण सामर्थ्य उसका निमित्त है जिसके निमित्त जिसके कारण इसमें जड़ में ये सामर्थ्य आता है रूप प्रसादी को प्रकाशन करना अभिव्यंजन करने का सामर्थ्य ये उत्तर हुआ शब्दार्थ से ठीक उपपद्यते इसी प्रकार अर्थ होगा जो इनका सामर्थ्य निमित्त है तथा मनसो मन जिस प्रकार सूत्र से सूत्रम इसकी व्याख्या हो गई इसी प्रकार मनसो मन मनस का अर्थ अंतकरण से अंतकरण का भी मन नहीं अंतकरण मंत्रेण चैतन्य ज्योतिषा दीपितम स्विषय संकल्प अध्यवसादि समर्थम स्यात् नहीं अंतकरणम स्विषय संकल्प अध्यवसादि समर्थम स्यात् अंतरण चैतन्य ज्योतिषा दीपितम चैतन्य ज्योतिषा दीपितम अंतरेण चैतन्य रूप ज्योति से प्रकाशित हुए बिना अंतकरण विषय संकल्प आदि समर्थम न स्यात् अंतकरण मन है जड़ है भौतिक है वो अपने विषय संकल्प निश्चय अध्यवसाय निश्चय करने के लिए समर्थ कैसे होगा अंतरण चैतन्य ज्योतिषा दीपितम चैतन्य रूप ज्योति से प्रकाशित नहीं हुए तो अंतकरण में अंतकरण समर्थन नहीं होगा अर्थात अंतकरण में जो सामर्थ्य है संकल्प करने का निश्चय करने का अंतकण शब्द से सो मन जो मन दिया है ये अंतकण के लिए दिया मन संकल्प वृत्ति केवल नहीं लेना अंतकण है तो अंतकण में संकल्पात्मक वृत्ति निश्चयात्मक वृत्ति इसे सब विषय संकल्प अध्यवसा आदि अहंकार आदि जो सामर्थ्य अंतकण में है चैतन्य आत्म ज्योति से प्रकाशित होने पर भी प्रकाशन होने पर ही सामर्थ समर्थ होता है अंतकण चैतन्य आत्मज्योति से प्रकाशित नहीं होगा तो स्वयं जड़ रूप वो विषय प्रकाशन नहीं कर सकता है दर्पण स्वयं पे किसको प्रकाश नहीं करता है किंतु सूर्य किरण उसमें दर्पण में आने पर वो दर्पण फिर दूसरे को प्रकाश कर लेता है प्रतिबिंबित होकर के इसी प्रकार अंतकरणम जड़ है अपना विषय संकल्प अध्यवसा नहीं कर सकता है अंतरण चैतन्य ज्योति सादीपितम चैतन्य रूप ज्योति से प्रकाशित नहीं हुए बिना अंतरण का थे बिना चैतन्य ज्योति सा दीपितम बिना चैतन्य ज्योति से प्रकाशित हुए बिना अंतकण अपना विशेष संकल्प निश्चय करने के लिए समर्थ नहीं होगा तस्माद मनसोपि मन इति मन का भी मन यह बुद्धि मनसी एकीकृत्य निर्देशो मनसैति मनस मन में जो श्रुति में मन पद आया बुद्धि मन दोनों के एक करके निर्देश किया गया इसलिए मन का अंतकरण क्या यद वाचो ह वाचम य शब्दो यस्मादर्थे श्रोत्रादि भी सर्वे ही संबद्धते यद वाचो ह वाचम आया यत शब्द है ये यस्मात के अर्थ में यह शब्द है यस्माद अर्थ करने से सौ के साथ उनका अन्वय करना यद वाचो ह वाचम यस्मात् सूत्र से सूत्र मन समान वाच वाचम ये सब के साथ वा कवि वाक ये यस्मात् है शब्द यस्मा शब्द का सब के साथ मिला करके आदि भी सर्वे संबद्धते यस्मात् सूत्र से सूत्रम यस्मात् चक्षु से चक्षु यस्मात् मन समान ऐसे करना यस्मात् सूत्र से सूत्रम यस्मात् समान इति इति एवं इस प्रकार सब के साथ संबंध करना यस्माद् वाचो वाचम वा का विभाग तो ही वाचो वाचम वाच तो षष्ट्यंत वाचम द्वितीयांत है वाचो वाचम यहाँ जो द्वितीयांत है वाचो वाचमिति द्वितीया प्रथमात्वेन विपरिणम्यते प्रथमात्वेन विपरिणाम करना चाहिए प्रथमा वाचो वाक इस अर्थ का किया जाता है वाचो वाक क्यों करेंगे क्योंकि प्राणस्य प्राणः श्रोत्र से श्रोत्रम श्रोत्रम प्रथमांत है द्वितीयांत है द्वितीयांत नहीं श्रोत्रम प्रथमांत भी द्वितीयांत भी है मन से मन मन प्रथमांत या द्वितीयांत है दोनों हो सकता है इसलिए वाचो हो वाचम ये तो द्वितीयांत निश्चित है प्राण से प्राण प्रथमांत द्वितीयांत है और चक्षु से चक्षु चक्षु प्रथमांत द्वितीयांत है दोनों हो सकते हैं अभी प्राण से प्राण प्रथमांत है और वाचो वाचम यहाँ द्वितीयांत है तो अभी यहाँ प्रश्न होता है वाचो हो वह वाचम ये द्वितीयांत है आगे प्राण से प्राण प्रथमांत होने से तो यहाँ वाचो हो वाह कैसे करना चाहिए क्योंकि अन्य सब तो द्वितीयांत प्रथमांत बराबर है उसको लेकर के निश्चय नहीं कर सकते श्रोत्रम द्वितीयांत या प्रथमांत मन इसलिए वाचो वाचम जो द्वितीयांत है उसको प्रथमांत करना क्योंकि प्राण से प्राण प्रथमांत है वाचो वाचमिति द्वितीय प्रथमात्वेन विपरिणमेते प्राण से प्राणिते दर्शनात अभी शंका करते वाचो वाचम जो द्वितीयांत है उसके अनुसार प्राण से प्राणम क्यों नहीं करते प्राण से प्राण प्रथमांत होने से वाचो वाचम के स्थान पर वाचम के स्थान पर वाक् प्रथमांत करने के लिए कहा शंका करने वाले कहता है वाचो वाचम जो द्वितीयांत कहा गया वाचम प्राण से प्राण प्रथमांत को प्राणम करना चाहिए प्राण से प्राणम ऐसा क्यों नहीं करते आगे शंका करते हैं य प्राण से पाचो वाचमिते तद अनुरोधेन प्राण से प्राणमिति कस्मा द्वितीयव न क्रियते वाचो वाचम द्वितीयांत है एक तो षष्ट्यांत है दूसरा द्वितीयांत है उसके अनुरोध से प्राण से प्राण प्रथमांत है उसको द्वितीयांत क्यों नहीं करते प्राण से प्राणम कस्मा द्वितीय न क्रियते सिद्धांतिकता न बहुनाम अनुरोधस्य युक्तत्वाद बहु अनुग्रह न्याय बहु अनुग्रह न्याय अनुग्रह बहुत का करना है एक की हानि हो जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं अथवा एक को अनुग्रह करे बहुत कहानी हानि हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं अनुग्रह बहुत को करना है एक को करना है हां बहुन ग्रह न्याय बहुनाम अनुरोध से युक्तत्वात् बहु का का अनुरोध युक्त है वाचम इत्यस्य वाग इतेतावत वक्तव्यम वाचो वाग तो वाचो वाग यहाँ तो प्राण से प्राण वाच वाचम एक बराबर हो गया बहुत तो कहाँ है बहुत तो अनुग्रह कैसे होगा तो का सौ प्राण से प्राण सौ प्रथमांत द्वितीयांत प्रथमांत स प्रथमांत प्राण प्रथमांत दो हो गए प्रथमांत अधिक हो गया नहीं और वाच हो वाचम ये द्वितीयांत एक है बाकी सब तो समान है प्रथमांत द्वितीय बराबर है तो प्रथमांत के लिए दो है सौ प्राण से प्राण सौ प्राण से प्राणी इति शब्द द्वयानुरोधेन दो शब्द प्रथमांत है एक प्राण और एक सौ एवं ही बहुनाम अनुरोध युक्त कृत स्यात् बहुतों का अनुरोध युक्त वो ठीक है वो क्या जाएगा तो इसलिए वाचो वाचम को वाचो वाक ऐसे करना चाहिए पृष्ठम च वस्तु प्रथमैव निर्देशम युक्त युक्तम और भी एक युक्ति है ये तो हो गया बहु न्याय और केने सितम करके कौन ऐसा है प्रेरक प्रश्न किया तो पृष्ठस्य पृष्ठम च वस्तु जो पूछा गया उसका उत्तर प्रथमया एव निर्देशम ये प्रथमांत से निर्देश किया जाएगा वो हम कहे प्रथमया एवं निर्देशम प्रथमा से निर्दिष्ट करना चाहिए कैसे यस्तया पृष्ठः प्राणस्य प्राणाख्य वृत्ति विशेष से प्राण जो तुमने पूछा वो प्राण का प्राण है यस्तया पृष्ठ स प्राणस्य प्राण प्राण से प्राण में दो प्राण में क्या है तो प्राणाख्य वृत्ति विशेषस्य प्राण प्राण नाम को जो वृत्ति है व्यापार है उसका भी प्राण है उसका प्राण का अर्थ तत्कृतम हि प्राणस्य प्राणन सामर्थ्यम जिसके कारण प्राण में व्यापार होता है वो प्राण का प्राण तत्कृतम तत्कृतम चेतन आत्मकृतम हि प्राणस्य प्राणन सामर्थ्यम प्राण में जो प्राणन व्यापार होता है और व्यापार का सामर्थ्य चेतन के कारण चेतन प्रयुक्त क्योंकि प्राण तो वायु है जड़ है उसमें जो व्यापार होता है व्यापार चेतन तत्कृतमि प्राणन सामर्थ्यम प्राणस्य प्राणन सामर्थ्यम का अस प्राणन प्राण न चाहिए प्राणस्य प्राणन सामर्थ्यम नए पुस्तक में अच्छा प्राणन पूरा करना प्राणस्य प्राणन सामर्थ्यम टीका में यस्मादस्ति श्रोत्रस्य श्रुतम तस्मात् श्रोत्रादो आत्मबुद्धि संत्यक्तव्या इति शेष श्रोत्रस्य श्रोत्रम कोई एक है यस्मादस्ति श्रोत्रस्य सूत्रम सूत्र का श्रोत्य है इसलिए तस्माद तस्माद चाहिए यस्मा नहीं तस्माद श्रोत्रादा आत्मबुद्धि संत्यक्तव्या इति शेष इसलिए श्रोत्रादि में जो आत्मबुद्धि है अहम बुद्धि है उसको छोड़ना चाहिए देह में अहम बुद्धि बड़ा जानते मेरा शरीर फिर मैं अहम देह में जो अहम बुद्धि तो पहले स्थूल है छोड़ना श्रोत्रादि में आत्मबुद्धि वो भी श्रोत्र का भी श्रोत्र कोई अलग है आत्मा जिसके कारण श्रोत्र में सामर्थ्य सामर्थ्य है इसलिए श्रोत्र आदि में आत्मबुद्धि छोड़ना मन में भी बुद्धि में भी शरीर प्राण शरीर के इंद्रिय प्राण मन बुद्धि आत्मबुद्धि छोड़ ले तो सब शुद्ध स्वरूप ज्ञान हो जाएगा इन पहले इनमें आत्मबुद्धि सम त्यक्तव्या सम्यक त्यक्तव्या पूरा छोड़नी चाहिए देह में श्रोत्र में मन में प्राण में सब इंद्रिय में आत्मबुद्धि प्राण चेष्टा चेतनाधिष्ठान प्रयुता अचेतन प्रवृत्तित्वात् रथादि प्रवृत्तिवत् इति अभिप्रेत्याह प्राणन में चेष्टा व्यापार है और व्यापार को पक्ष बना करके उसमें सिद्ध करना चेतन अधिष्ठान पूर्विका चेतन अधिष्ठान पूर्वकत्वम साध्य प्राण व्यापार में चेतन है अधिष्ठान प्रेरक तत्पूर्वक प्राण चेष्टा है क्योंकि प्राण वायु है अचेतन अचेतन की प्रवृत्ति है अचेतन प्रवृत्तित्वात हेतु अचेतन प्रवृत्तित्वम पक्ष में रहेगा पक्ष क्या है प्राण चेष्टा प्राणन व्यापार प्राण अपान जो व्यापार होता है उसमें चेतन अचेतन प्रवृत्ति तो रहा साध्य रहेगा चेतन अधिष्ठान पूर्वकत्वम रथादि प्रवृत्तिवत रथादि प्रवृत्ति को दृष्टांत बनाया रथ में जो क्रिया जब होती है वो क्रिया अचेतन की प्रवृत्ति है नहीं रथ की क्रिया अचेतन प्रवृत्ति है अचेतन प्रवृत्ति तो हेतु में रहेगा पक्ष में रहेगा दृष्टांत है यहाँ पक्ष में तो रहेगा दृष्टांत है रथ आदि प्रवृत्ति रथ आदि की प्रवृत्ति है दृष्टांत अचेतन प्रवृत्ति तो हेतु रहेगा दृष्टांत में है दृष्टांत क्या है रथादि प्रवृत्ति हेतु क्या है अचेतन प्रति तो रहेगा दृष्टांत में साध्य रहेगा ना नहीं दृष्टांत में साध्य क्या है चेतन अधिष्ठान पूर्वकत्वम रथ आदि प्रवृत्ति में है व्याप्ति हो जाएगी यत्र यत्र अचेतन प्रवृत्तित्वम तत्र तत्र चेतन अधिष्ठान पूर्वकत्वम रथ आदि प्रवृत्ति में दृष्टांत में हुआ तो पक्ष में भी प्राण व्यापार में प्राण चेतन है अचेतन है अचेतन प्रवृत्तित्व पक्ष में रहेगा तो वहां चेतन अधिष्ठान प्रयोग तो अनुमान हो जाएगा यही कहते नहीं आत्मना अनधिष्ठित से प्राणनम उपपद्यते आत्मा में अनाश्रित होगा आत्मा उसका प्रेरक नहीं होगा तो प्राण अपान व्यापार नहीं हो सकता है श्रुति कहती को हेवन्यात कह प्राण्याद्य देश आकाश आनंदो न स्यात् कोई एव अन्यात कौन प्राण पाना व्यापार करेगा अन प्राण ने अन्यात कोई एव अन्यात कह प्राण्याद प्र लगा दे तो प्राण व्यापार हो गया नहीं तो अन प्राण से अन्यात अपान व्यापार कौन करेगा प्राण्याद प्राण व्यापार कौन करेगा प्राण अपान व्यापार कौन करेगा यह देश आकाश आनंद न यह हृदय आकाश में आनंद रूप ब्रह्म यदि नहीं होगा तो कौन भी व्यापार करेगा आकाशे आकाश हृदय आकाश में आनंद रूप ब्रह्म गुहा बुद्धि रूप गुहा में आनंद रूप ब्रह्म यदि नहीं होगा तो प्राण अपान व्यापार कैसे कौन करेगा ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयत अपानम प्रत्यगस्यति प्राणम ऊर्ध्वम उन्नयति ऊपर लेता है अपान को नीचे अपान की गति नीचे प्रत्येक प्रत्यसति इत्यादि सतिभ्य मध्य में उदान रहता है ये श्रुति भी प्राण पान व्यापार कराने वाले अलग चेतन है यह भी जबक्षत यहाँ भी कहेंगे ये न प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते प्राण जिसके द्वारा प्रणीयते प्राण भी व्यापार करता है जिसके द्वारा अपने व्यापार से युक्त होता है जिसके द्वारा उसको ब्रह्म समझो तदेव ब्रह्मत्व विद्धि इदम तेन जो उपासना करते भेद तो बुद्धि से वो ब्रह्म नहीं है प्राण आदि का व्यापार कराने वाले बुद्धि को जानने वाले चक्षु में सामर्थ्य देने वाले वही ब्रह्म है अपना स्वरूप है अपने से भिन्न कोई नहीं कहे ऊपर ब्रह्म लोक में रह करके प्राण व्यापार व्यापार कराता है नहीं जो सन्निधि मात्र से व्यापार करता है सर्वव्यापक सर्वांतरतम चिद्रूप एक अद्वितीय तत्व वही आपका स्वरूप है तदेव ब्रह्मत्व विधि इसलिए ब्रह्म को ऐसे समझना है अहम अस्मि परम ब्रह्म नहीं कि तद वो ब्रह्म वो वह नहीं तत् तो उसको लेने के लिए प्राण येन प्रणयते तदेव ब्रह्म चक्षु के चक्षु श्रोत्र का श्रोत्र जो है वही ब्रह्म समझो श्रोत्रादीना श्रोत्रादीनाम श्रोत्रादि इंद्रिय प्रस्तावे घ्राण प्राण से ननु युक्तम ग्रहणम श्रोत्र चक्षु आदि का नाम जब आया घ्राण इंद्र का नाम लेना चाहिए श्रोत्रादि नाम इंद्रिया नाम प्रस्तावे श्रोत्र से श्रोत्रम चक्षु से चक्षु मन से मन जब आया तो घ्राणाख्य प्राण का ग्रहण करना चाहिए घ्राण इंद्र रूप प्राण का घ्राणात्मक प्राण सब इंद्रियों को प्राण शब्द से कहा जाता है ये बृहदारण्य के आया प्राण संवाद में सब प्राण से कहे जाते हैं तो घ्राण आत्मक जो प्राण ग्राण इंद्रिय रूप प्राण का ग्रहण करना चाहिए जैसे चक्षु सत्र का नाम लिया तो सिद्धांत कहता सत्यम एवं ये ठीक है आपका कहना बिल्कुल ठीक है इंद्रिय का प्रस्ताव है तो इंद्रिय घ्राण इंद्रिय का नाम लेना चाहिए तो श्रुति फिर प्राण क्यों कहती प्राण ग्रहणेनैव तो घ्राण प्राण से ग्रहण कृतम एवं मान्यते श्रुति श्रुति ये मानती है प्राण शब्द ग्रहण करेंगे तो घ्राणात्मक प्राण का ग्रहण हो जाएगा ऐसा श्रुति मानती घ्राण व्यापार गंध उपादान लक्षण अपानात्मक प्राण व्यापार अधीनत्वात् इंद्र का व्यापार गंध ग्रहण करते हैं सूंघते हैं तो बाहर से वायु अंदर खींचेंगे तो गंध ग्रहण होगा बाहर से खींचते तो अपान का व्यापार होता है बाहर जो प्राण छोड़ छोड़ते हो प्राण का व्यापार और बाहर से जो जाता है अंदर नीचे फिर वो अपान है बाहर खींचते समय भी अपान है ये खाली नहीं कि अपान नीचे जाएगा तो अपान व्यापार यहाँ से खींचते ये भी अपान का व्यापार है छोड़ते प्राण का व्यापार है तो घ्राण इंद्र के द्वारा गंध ग्रहण होता है इसी प्राण अपान व्यापार से होता है इसलिए प्राण व्यापार पूर्वक घ्राण इंद्र का व्यापार होने से उसको प्राण शब्द से कह दिया प्राण ग्रहण नैव घ्राण प्राण से ग्रहण कृतम गंध ग्रहण रूप घ्राण इंद्र का व्यापार है वो अपानात्मक प्राण व्यापार के अधीन होने से उसको प्राण शब्द से कहा एवं नेति टीका में सर्वसेवा नहीं हो गया नहीं आता ये पुस्तक सर्वसेव कर्ण यदर्थ प्रयुक्ता प्रवृत्ति तद ब्रह्मेति प्रकरणार्थ विवक्षिता ये पूरा प्रकरण का अर्थ चक्षु चक्षु सूत्र से सूत्र मन समान ये प्राण से प्राण ये जो कहा गया पूरा अर्थ है सर्वसेव कर्ण कलापस्य प्रवृत्ति यदर्थ प्रयुक्ता दृष्टा तद ब्रह्म सारे कर्ण समुदाय चक्षु सूत्र प्राण आदि सब का समुदाय का की जो प्रवृत्ति होती है जड़ है उनकी प्रवृत्ति होती है यदर्थ प्रवृत्ता जिसके प्रयोजन के लिए ही प्रवृत्ति होती है ये सब शेष है उपकार के शेषी को एक है जैसे संघात गृह संघात से विलक्षण असंगत गृह स्वामी के लिए है इसी प्रकार यहाँ संघात के अंतर्गत संघत चक्षु सूत्र आदि जितने सब सब की प्रवृत्ति होती है यदर्थ प्रयुता यस्य अर्थ यस्य प्रयोजनेन प्रयुता जिसके प्रयोजन के कारण प्रयुक्त होते हैं प्रेरित होकर के प्रवृत्ति होती है वह ब्रह्म है सारे इंद्रिय करण है और जिसके लिए करण की प्रवृत्ति होती है जो शेषी है चेतन है जिसके कारण यथार्थ प्रवृत्त जिसके के सामर्थ्य जिसके सन्निधि मात्र से इनमें प्रवृत्ति होती है वह ब्रह्म ये प्रकरण का अर्थ यहाँ विवक्षित है के निश्चित इत्यादि प्रश्न का यह उत्तर है तथा चक्षुष चक्षुर विजैसे श्रोत्र से सूत्र मन मन प्राण से प्राण हुआ वाचो वाचम तथा चक्षुष चक्षुष प्राण से प्राण चक्षुष चक्षु चक्षु का भी चक्षु है रूप प्रकाशक से चक्षुषो यद रूप ग्रहण सामर्थ्यम तद आत्म चैतन्य अधिष्ठितस्य एव अतः चक्षुष चक्षु चक्षुष चक्षु रूप प्रकाशक चक्षुष रूप प्रकाशन समर्थे चक्षु यद रूप ग्रहण सामर्थ्यम चक्षु में जो रूप ज्ञान सामर्थ्य रूप ज्ञान जनन सामर्थ्य तद आत्म चैतन्य अधिष्ठित सेव आत्म चैतन्य से अधिष्ठित होने पर चैतन्य से प्रेरित होकर के ही सामर्थ्य है आत्म चैतन्य में आश्रित होकर के आत्मचैतन्य अधिष्ठित चकित रूप ग्रहण सामर्थ्यम तो रूप ग्रहण सामर्थ्य जिसके कारण है आत्मचैतन्य के द्वारा प्रेरित होकर के चक्षु में सामर्थ्य वह ब्रह्म है वही चक्षु से अतएव चक्षु से चक्षु चक्षु का चक्षु का जैसे श्रोत्र का श्रोत्र का श्रोत्र में शब्द अभिव्यंजन सामर्थ्य जिसके कारण वो चक्षु श्रोत्र से श्रोत्रम चक्षु में रूप अभिव्यंजन रूप ज्ञान सामर्थ्य है जिसके कारण है ये सामर्थ्य वो चक्षु से चक्षु का टीका में ज्ञात्वेति पदाध्याय आगे यहां ज्ञात्वा अतिमुच्य धीरा प्रत्यास्मा लोका दमृता भवन्ति पहले प्राण से प्राण चक्षु से चक्षु कह करके आगे ज्ञात्वा पद का अध्याय करके अर्थ किया गया इसको जान करके ज्ञात्वा अतिमुच्य अतिमुच्य ज्ञातवा अध्याय करके अतिमुच्य कहते इनमें भाव को छोड़ करके श्रोत्रादि भाव छोड़ करके धीरा आत्मा का अमृत भवंती प्रत्यय का सर्वेषण का त्याग करके ज्ञात्वा इति पदाध्याय कारणमाह भगवान भाष्यकार ने अतिमुच्य के पहले ज्ञात्वा एक शब्द का अध्याय किया अश्रुत पद का अज्ञात पद श्रुति में तो नहीं भगवान भाष्यकार ने ज्ञात्वा पद का अध्ययन करते हैं तो उसका अभिप्राय क्या है ज्ञात्वा इति पद अध्याय का कारण बिना कारण कोई पद अध्याय नहीं होता है किसी पद का अध्याय करते तो कोई कारण होना चाहिए वो कारण कहते हैं प्रष्टु पृष्ठस्य अर्थस्य ज्ञातुम इष्टत्वाद जो पूछता है प्रच्छ गिम्सायाम कुछ पूछता है किसलिए गिम्सायाम ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा जानने की इच्छा से प्रश्न होता है कभी-कभी कोई के प्रश्न करते दिखाने के लिए हमको आता है बहुत प्रश्न पूछने के बाद उत्तर जो देते से दूसरा प्रश्न करेंगे क्योंकि ये और भी आता है वहाँ उत्तर नहीं जिज्ञासा नहीं है फिर बोलने वाला चुप हो जाता है समझ लेता है इसको सुनने की इच्छा नहीं बोलने की इच्छा है कुछ प्रश्न क्या और उत्तर देते तो फिर और एक प्रश्न फिर कुछ बोलते और एक प्रश्न बोलते रहते देखा हमारे प्रश्न का उत्तर देते हैं तो हम तो प्रश्न को स्वीकार कर लिया तो समर्थन कर लिया तो हमको एक ने और दो चार पांच प्रश्न भी पूछ सकते और भी पूछो वो प्रश्न करने का नहीं ऐसे प्रश्न होने पर उत्तर देना नहीं चाहिए ना पृष्ठम कस्यचिद उर्या ना न चा न्यायन पृच्छत जानन अपि मेधावी जड़व लोकम आचरित अपृष्ठम कस्यचिद न उर्याद बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए हाँ जब शिष्य पुत्र आदि है शिष्यत्व ने कोई समर्पित है उसके कल्याण के लिए वहाँ प्रश्न के बिना भी कहा जाता है शास्त्र में इसे कहा जाता है कहना चाहिए जो हित है उसको तो कहना चाहिए किंतु अन्याय से कोई पूछता है बिना पूछे कोई आए तो उसको कोई आया कर बैठ गया अब प्रवचन शुरू कर दिया क्योंकि ऐसे तो कोई आकर प्रणाम किया वो अपने प्रवचन शुरू कर दिया बड़े खुश हो गए हमारे पास तो भक्त आ गया चलो बोलो आधा घंटा बोलते जाओ उठ कर जाना चाहता है छोड़ते नहीं <laughs> सुनो ना पृष्ठम च न ब्रियात अनचा न्याय न पृच्छत अन्याय से कोई पूछता है पूछता तो है किंतु उद्देश्य नहीं सुनने के लिए दिखाने के लिए सुनने सबके सामने अथवा नहीं तो कैसे पूछ प्रश्न कर पूछेंगे जो बोल नहीं पाएंगे पहले से किस-किस को निश्चय है कि हम ऐसा पूछेंगे तो उसका उत्तर और नहीं दे सकते हैं और उत्तर कुछ देंगे तो उसका है करके उड़ा देंगे और क्योंकि वही तो उद्देश्य उत्तर नहीं दे सकते हैं फिर कुछ कह करके और कुछ कहते हैं हंस करके अन्याय से कोई पूछता है तो भी उत्तर नहीं देना चाहिए जानन अभी मेधावी बुद्धिमान जानते हुए भी जड़वत तो लोकमाचर तो लोक में जड़ जैसे जड़ मुख जैसे बद्र जैसे और लोग समझेंगे कुछ नहीं समझता है तो क्या बिगड़ गया लोगों को दिखाने के लिए क्या पांडित्य ब्रह्म ज्ञान हो जाए शास्त्र ज्ञान हो गया समझदार है तो लोग को दिखाने के लिए लोग कोई जानना चाहता है तो सन्यासी को तो बोलने का अधिकार नहीं है भिक्षा घटन करने के लिए जाना है भगवान का नाम ले लेना है और कुछ बोलने का नहीं और जब भी बोलना पड़ता है केवल जो जानना चाहता है तो उपदेश करने का अधिकार है अपने को कुछ मालूम हो तो ठीक ठीक और थोड़ा कुछ मालूम हुआ नहीं हुआ और उसको उपदेश करने लगा बैठा करके बैठो सुनो ऐसा नहीं तो इसलिए प्रश्न करने पर न्याय से पूछता है तो बोलना होता नहीं तो नहीं है अन्याय से पूछने पर नहीं बोलते हैं और पूछने पर उसका उत्तर देना होता है ये किस लिए कहा था ज्ञाता इति अध्यारे पूछने पर पूछने क्यों पूछा जाता है पूछते हैं तो जानने की इच्छा से प्रश्न होता है जब प्रश्न किया जाता है उत्तर उद्देश्य है जानने की इच्छा जानने की इच्छा से प्रश्न होता है इसलिए ओ ज्ञातवा उसका अध्ययन किया क्योंकि जानना चाहता है प्रष्टु भाष्य में आया प्रष्टु पृष्ठस्य अर्थस्य ज्ञातुमिष्टत्वात् जो पूछता है पृष्ठ अर्थ ज्ञातुमिष्ट जो पूछा गया अर्थ वो जानना चाहता है तभी प्रश्न होता है तो उसको प्रश्न कहते हैं तब उत्तर देना चाहिए जिज्ञासा से कोई प्रश्न करता है पृष्ठ जो अर्थ विषय उसको जानना चाहते हैं तो फिर उसको उत्तर देने पर उसको ज्ञान होना चाहिए या नहीं जानना चाहिए इसलिए ज्ञात्वा उसको जान करके फल कथन करते आगे कहते उसको ज्ञान होने से क्या फल होगा कहते हैं तो जानना चाहता है तो उसका उत्तर दे करके कहते इसका ज्ञान होने पर यह फल है श्रोत्रादे श्रोत्रादि लक्षणम यथोतम ब्रह्म ज्ञात्वा इति अध्यायरियते श्रोत्र का श्रोत्र आदिप से चक्षु का चक्षु मन का मन ये ये लक्षण स्वरूप जिसका ईसा जो ब्रह्म आगे ज्ञात्वा उसी ब्रह्म को जान करके फिर अतिमुच्य फलकपन किया ज्ञात्वा इति अध्यायते अमृता भवन्ति इति फलश्रुतेश्च अध्यार करने का भी कारण और एक है आगे कहते हैं अमृता भवन्ति चक्षुष चक्षु प्राण का प्राण अमृता भवन्ति कैसे होगा उसको ज्ञातवा इसको जान करके नहीं तो पूछा था किससे प्रेरित होकर व्यापार करते हैं तो श्रोत्र का श्रोत्र चक्षु का चक्षु प्राण का प्राण कह दिया फिर अमृता भवंती कैसे हो जाएगा ज्ञातवा इसी प्रकार ब्रह्म को चक्षुरादि का प्रेरक जो ब्रह्म उसको जान करके अमृता भवंती अमृता भवंती से फलश्रुति फल कथन करने वाले श्रुति होने से ज्ञाता पद का अध्याय किया जाता है क्योंकि ज्ञानाद्य अमृतत्वम प्राप्यते ज्ञान से अमृत प्राप्त होता है अमृतत्व तो मुख्य ज्ञान से प्राप्त होता है तो केने सितम प्रश्न कर दिया उसके उत्तर दे कहते इसको जानने पर ज्ञात्वा अमृत भवति जानने पर मुक्त होते हैं तो फलश्रुति अनुरोध से ज्ञात्वा पद का अध्ययन करना चाहिए ज्ञात्वा अतिमृत अतिमुच्यति सामर्थ्यात श्रोत्रादि करण कलापम उज्जित्वा ज्ञात्वा अतिमुच्य जान करके सूत्र के सूत्र आदि ब्रह्म को जान करके फिर अतिमुच्य अतिमुच्य सामर्थ्य श्रोत्रादि कर्ण कलापम उज्जित उज्जित्वा त्याग करके आदि करण कलाप करण समुदाय को छोड़ करके आदि करण कलाप को उज्ज विसर्ग छोड़ करके आदि करण को छोड़ना किस प्रकार कान को काट कर फेंकना कान को काटने पर श्रोत्र का त्याग नहीं है श्रोत्र इंद्रिय है कान इंद्रिय नहीं है जो चक्षु दिख दिखता है वो भी इंद्रिय नहीं है गोलक स्थान है ऐसे उनके उज्जित औज्य विसर्ग त्याग कैसे करना श्रोत्रादि भाव त्याग मंत्रण अमृतत्व संभवात ज्ञान बला श्रोत्रादि आत्मभावं त्यक्त्वा अमृता भवन्ति इति संबंध श्रोत्रादि में अहम बुद्धि जब तक है तब आत्मज्ञान हो नहीं सकता है देह इंद्रिय में आत्मभाव त्याग मंत्रेण श्रोत्र आदि में आत्मभाव आत्मत्व जो आत्मत्व बुद्धि उसके त्याग के बिना अमृतत्व संभव है ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा अमृतत्व नहीं हो सकता है इसलिए ज्ञान बला श्रोत्रात आदि त्यक्त्वा तो अमृता ज्ञान होने पर श्रोत्र का श्रोत्र चक्षु का चक्षु से ज्ञान होने पर जब अधिष्ठान सुक्ति का ज्ञान हो गया तो रजत में रज, सत्य तो बुद्धि नहीं रहेगी रज्जु ज्ञान हो गया तो सर्प नहीं है इसलिए आत्मा ये देह नहीं है चक्षु नहीं है प्राण नहीं है नहीं नहीं कहने से कैसे होगा फिर ये आत्मा कौन है तो श्रोत्र का श्रोत्र चक्षु का चक्षु उसको जानने पर ज्ञान बलात् आत्मा श्रोत्र आदि आत्मा भावन त्यक्त्वा अधिष्ठान का साक्षात्कार हो जाए तो अध्यस्त में बुद्धि सत्य तो बुद्धि निवृत्त हो जाती है रज्जु ज्ञान होने से सर्प बुद्धि की निवृत्ति होती इसी प्रकार श्रोत्र का श्रोत्र चक्षु का चक्षु जो आत्मा है उसके ज्ञान के सामर्थ्य से श्रोत्र आदि में भावम त्यक्त्वा श्रोत्र आदि में तो आत्मभाव आत्मत्वम अहम बुद्धि उसको छोड़ करके ही त्याग है उज्जत विषय त्याग है क्योंकि जब तक श्रोत्रादि में आत्म भाव उसका त्याग नहीं करेगा तो मोक्ष नहीं हो सकता है तो पहले अधिष्ठान का साक्षात्कार श्रोत्र से श्रोत्रम चक्षु का चक्षु इसका ज्ञान होगा ज्ञान के बल से ज्ञान का बल होता है नहीं बल ही ना नय आत्मा बल ही न लभ्य वो बल है आत्मज्ञान जन्य बल क्या है अनात्म तिरस्कार ये बल है मोटा तगड़ा बलवान ये नहीं आत्मज्ञान का बल होता है अनात्म तिरस्कार अनात्म वस्तु का तिरस्कार करना ये बल है विवेक ज्ञान हुआ तो अनात्म में आत्मबुद्धि छोड़ना ये ज्ञान बोला सामर्थ्य से सूत्र आदि में आत्म तो त्यक्त्वा आत्मभाव का त्याग करके अमृता भवन्ति संबंधे इसका स्पष्टीकरण आगे है ओम